ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है आपका पुराना साथी रेडियो सिलोंग कि रेडियो सिलोन की उस पहली सैर में मेरी दोस्ती दुबे साहब के अलावा भी कई अच्छे अच्छे ब्रॉडकास्टरों से हुई जैसे हिंदी सर्विस की बड़ी पॉपुलर अनाउंसर विमल कश्यप दुबे साहब ने विमल जी को इतनी अच्छी तरह ट्रेन कर दिया था कि अक्सर उन्हीं पर रेडियो सिलोन के ब्रॉडकास्ट की जिम्मेदारी छोड़कर दुबे साहब मुझे दो तीन बार कोलंबो और आसपास की सैर कराने भी ले जा सके <laughs> एक बार वो मुझे एक खूबसूरत हिल स्टेशन कैंडी ले गए जहां हमने कैंडी की काफी सुंदर काजल पाउडर लिपस्टिक लाली से संवरी हुई बड़ी स्मार्ट काजू बेचने वाली लड़कियां भी देखी <laughs> मैनोर भाई तभी तो मुझे आज तक काजू बहुत पसंद है अच्छा एक बार दुबे साहब मुझे एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट दिखाने ले गए कोलंबो में और उन हसीनाओं में खासकर दो स्वीट लड़कियों को मैं ऐसी ललचाई आंखों से देखने लगा कि दुबे साहब घबराने लगे कि मैं अपनी सीट से उछलकर कहीं स्टेज के पीछे जाकर उन दोनों लड़कियों के सामने शादी का प्रस्ताव न रख दूं इसलिए वो जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर मुझे हॉल के बाहर ले गए और बड़े सीरियस होकर मुझे ये राय दी कुएं में कुएं में खुद के मर जाना यार तुम शादी मत करना कुएं में खुद के मर जाना यार तुम शादी मत करना मत करना मत करना मत करना कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना अरे बाप रे नहीं नहीं नहीं नहीं ये गीत तो मैं अब और बजा ही नहीं सकता बहनों भाइयों क्योंकि भाई रेडियो सिलोन से जैसे ही मैं बम्बई लौटा तो मेरे जीवन में एक प्यारी सी लड़की आई और दो साल बाद उसी से मैंने शादी भी कर ली शादी का बल्कि दुल्हन की विदाई का एक बड़ा ही रसीला छप्पन की छाव वाला गीत मैं आपको जरूर सुनाऊंगा मतलब ये सुनवाऊंगा यहाँ मन भावन के घर जाए गोरी बारह की सन 1956 की वार्षिक संगीत चिड़ी की पायदान नंबर आठ पर देखिए झलक उस गोरी की जिसे जमाना उसके मन भावन से मिलने से रोक रहा है रोक रहा फिल्म है देवता कैसे 156 का गीत नंबर सात एक और गीत फिल्म तांगे वाली का हंसे हंसे चलो सावरे प्यार की मस्त हल्के हल्के चला न जाए प्यार की मस्त हवाओं में जब तक है दम चलो चले हम डाल के बाहे दाहों उन्नीस सौ छप्पन के गीत माला एनुअल प्रोग्राम में नंबर छह पर सीआईडी का वो गीत जो हर नौजवान समझता है कि उसी के लिए गाया गया हो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर उस साल पायदान नंबर पाँच पर फिल्म भाई भाई का गीत ये वाला मुझे बता दे तो आ गया है वो कौन है जो आकर गया है और 1956 में सालाना संगीत जोड़ी के पायदान नंबर चार पर छिड़ी थी जंग बन से लड़ाई बलवार की बन से लड़ाई बलवार की ये कहानी है दिए की और तूफान की दोस्तों जब भी मैं तूफान और दिया का ये गीत सुनता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ कि अरे निर्बल और बलवान की लड़ाइयां और कभी छुपे हुए वार आतंकवादियों के हमले धर्म का नाम बदनाम करके औरों का माल लूटना और निर्दोषों और मासूमों की जान लेना लोगों को प्रेम के बंधन से जोड़ने की बजाय नफरत के हथौड़ों और बमों से तोड़ना ये सब कुछ 1956 में तो उतना नहीं होता था जितना आजकल सारी दुनिया में हो रहा है इसके बारे में गीत माना के बहुत बड़े पुराने और बड़े पक्के श्रोता खंडवा के श्रीनिवास अग्रवाल ने अपने खत में क्या खूब लिखा है कि ये ऐसी आग है जिससे न सिर्फ इमारतें जलती हैं बल्कि मन भी जल जाते हैं और मन की आग बड़ी मुश्किल से बुझती है देखिए हम सोच रहे थे कि नई नई टेक्नोलॉजी ज्ञान के फैलते हुए दायरे व्यापार और कारोबार के धूम धड़ाके इन सब के सहारे हमारी दुनिया प्रगति की तरक्की की राहों पर बढ़ती ही चली जाएगी मगर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी मुझको रातों किस आही के सिवा कुछ न मिला मैंने चादर से सितारों की तमन्ना की थी नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल न मिली वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल न मिली जख्म पाए है बहारों की तमन्ना की थी मैंने चादर से सितारों की तमन्ना की थी जैसु किसी आंचल का सहारा भी नहीं किसी जैसु किसी आंचल का सहारा भी नहीं रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं मेरी नजरों ने नजारों की तमन्ना की थी मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी मुझको रातों की सियाही के सिवा कुछ न मिला मन चादर से धारों की तमन्ना की थी मगर भाई हमें आज तो बहुत कुछ मिल रहा है गीत माला की छाव में मेरी पहली कोलंबो की सैर और उस जमाने के रेडियो सिलोन के करिश्मों का हाल जैसे सुबह के फरमाइशी प्रोग्रामों के लिए हर रोज सारे एशिया से करीब डेढ़ हजार फरमाइशें आना हर फरमाइशी प्रोग्राम का खत्म होना खेल सहगल के गीत पर कई फरमाइशों का उस शहर से आना जिसका नाम हम सब अनाउंसर्स बड़े मजे से लिया करते थे यानी झुमरी तिलैया क्योंकि भाई उस नाम से हमारे दिल में उभरती थी एक ऐसी खूबसूरत जगह की तस्वीर जहाँ एक ताल हो और ताल के किनारे हवा में झूमते हुए पेड़ हो और पेड़ के नीचे झुमर नाचती हुई हसीनाएं हों <laughs> भाई पता नहीं ये सब कुछ असल में वहाँ था या नहीं मगर हम अनाउंसर बंद स्टूडियो में बैठकर हसीन सपने तो देख सकते थे ना मेरी में तुम मेरे ख्वाबों में तुम हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम मेरी नींदों में तुम मेरे ख्वाबों थे हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम मन की बीना बहा ओहो बहनों भाइयों इस समय मेरे दिल के दरवाजे पर दो तरफ से दस्तकें हो रही हैं हमले हो रहे हैं दाई तरफ से हजारों लोग कह रहे हैं अमीन भाई गाने तो भाई हम हर जगह से सुन सकते हैं गीत माला की छाव में तो हम आपसे आपकी यादों की कहानियां सुनना चाहते हैं और साहब बाई तरफ से हजारों लोग फरमा रहे हैं कि अरे अमीन अंकल आप पचास वर्षों से भी ज्यादा से बोल बोल कर थक नहीं गए हैं क्या अब जरा आराम कीजिए और हमें ज्यादा से ज्यादा गाने सुनाइए तो भाई दोनों तरफ के लोगों मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि दोनों टाइप के सुनने वालों के लिए कुछ न कुछ शब्दों गीतों और इंटरव्यूज की खिचड़ी पकाऊ तो प्लीज कोई भी बुरा मत मानिए हाँ और वैसे भी बुरा मानने का टाइम कहाँ है हमारे पास ये देखिए हम आ पहुंचे उन्नीस की सालाना संगीत श्रेणी की चोटी की तीन पायदानों के पास 1956 की पायदान नंबर तीन पर था नूतन और बलराज सानी की बड़ी भावुक फिल्म सीमा का ये खूबसूरत गीत तू प्यार का सागर है तू यार छप्पन की पायदान नंबर दो पर कौन सा सुपरहिट गीत था जरा नयन लड़ाकर बताइए मशहूर क्लासिकल कथक डांसर गोपी किशन संध्या के मुकाबले और डायरेक्टर थे शानदार वी शांताराम जिन्हें लोग अन्ना साहब भी कहते थे तो बहुत बहुत साल पहले उनसे मिलने यानी शांताराम जी से मिलने एक दुबले पतले नौजवान एक्टर बनने की फरमाइश लेकर पहुंचे ये वही थे जो बाद में बहुत बड़े संगीतकार बने वसंत देसाई अजी बस यूं ही एक दिन जाकर सामने खड़ा हो गया हम्म। अन्ना साहब कि मुझे एक्टर बनना है एक्टर यानी <laughs> म्यूजिक डायरेक्टर नहीं अरे म्यूजिक जब कहाँ आता था और वैसे भी फिल्मों में हर कोई पहले एक्टर बनने आता है हाँ, हाँ। फिर बन जाता है टेक्नीशियन हम्म। तो मैं भी बाल बढ़ाकर पहुंच गया एक्टर बनने बाल बढ़ाकर यानी बड़े हुए बाल उस वक्त भी जरूरी थे एक्टर बनने के लिए दादा जी हाँ लंबे लंबे बाल जिन्हें डायलॉग बोलते वक्त झटके से आंखों तक लाया जा सके अच्छा मगर एक कमी थी मुझ में अमीन साहब वो क्या मैं दुबला पतला और छोटे कद का था हम्म। जबकि वो स्तन का जमाना था हम्म। उन्होंने पूछा क्या करना चाहते हो हम्म। मैंने गर्दन हिलाकर बाल दिखाए और <laughs> कहा एक्टर बनना चाहता हूँ अच्छा उन्होंने मुझे सर से पांव तक देखा और सोचा लड़का पागल है <laughs> इसमें एक्टर बनने के लिए है ही क्या न फिगर न हाइट हम्म। फिर उन्हें मुझ पर तरस आ गया और बोले मैं तुम्हें रखे तो लेता हूँ हम्म। मगर सब काम करना पड़ेगा हम्म। कल से आ जाओ स्टूडियो में और वसंत देसाई साहब की यादों के बाद बहनों भाइयों अब ये आया 1956 की संगीत श्रेणी के गीत नंबर वन का बिगुल गीत था फिल्म सीआईडी का हाँ, जिसकी स्टार कास्ट में तो वैसे देवानंद शकीला और वहीदा रहमान भी थे मगर वो गीत फिल्माया गया था जॉनी वॉकर और कुमकुम पर और बहनों भाइयों क्या आप जानते हैं उसके मुखड़े की धुन का आधार भी एक मशहूर पुराना अंग्रेजी गीत था Oh, my darling, oh, my darling, oh, my darling, Clementine. ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान. ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के, जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. ऐ दिल है आशा जीना यहाँ, सुनो मित्र, सुनो बंधु. यहाँ जरा हट के जरा बट के ये है बॉम्बे मेरी जान लेकिन भाई तब तक रेडियो सिलोन के विजय किशोर दुबे साहब के लिए कोलंबो में जीना जरा मुश्किल होने लग गया था रेडियो सिलोन में उन्हें शोहरत तो बहुत मिली सुनने वालों का प्यार भी बहुत मिला मगर वहाँ आमदनी काफी कम थी तो फिर हमारे दफ्तर ने उन्हें बम्बई बुला लिया और वो मेरी तरह स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स के प्रोड्यूसर बन गए फिर उन्होंने जाने पहचाने फिल्म जर्नलिस्ट बनी रूबन के साथ एक फिल्म प्रोड्यूस की जिसके हीरो थे महान आशिक राज कपूर और डायरेक्टर थे ऋषिकेश मुखर्जी भाई उस फिल्म के गीत बजेंगे उन्नीस की गीतमाला की छाव में फिर उनकी शादी बनी की बहन एस्थर से फिर चार साल अमेरिका के हॉलीवुड में रहने के बाद दुबे साहब एचएमवी लेबल्स की मशहूर ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया में शामिल जहां बढ़ते बढ़ते वो vice president of artist and रेपटफोर बने और जब वो कंपनी एचएमवी से सारे गमा बनी तब भी वी के दुबे साहब सलाहकार के रूप में जुड़े रहे उनसे और फिर नहीं नहीं उसके बाद की बात तो मैं बाद में बताऊंगा बहनों भाइयों मैं अभी अपने रिकॉर्डिस्ट केवी जॉन से कहूंगा कि ए भाई जॉनी 1956 के जो बढ़िया बढ़िया छाव वाले गीत बहुत सारे बाकी है ना वो सब पूरे तो आज बजाना जरा मुश्किल है मगर जरा दिखा दे अपने हाथों का जादू है बजा दे उन सभी गीतों की झलकें एक के बाद एक चली गोरी पी से मिलन को चली चली गोरी से मिलन को चली नैना बावरिया मन ने सावरिया चली गोरी से मिलन को चली दिल मस्ताना माने ना लगी बुझाना बुरा जमाना जाने ना सुना सुना पहलू है दिलदार कहाँ भीगी भीगी रातों का वो प्यार कहाँ जादू तान सुनाई है नग में जुदा जुदा है मगर साग एक है अररम तररम दुनिया के कैसे कैसे हम कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं कम कहीं ज्यादा कहीं कम ओके ओके बहनो भाई मैं मानता हूँ कि बड़े गम की बात है 1956 के इन बढ़िया बढ़िया छाव वाले गीतों को इतना कम कम कम बजाना मगर आ, अगले वॉल्यूम से इस गड़बड़ का मैंने एक तोड़ निकाल लिया है और सन छप्पन की छाव का अब जो आखिरी गीत मैं सुनाऊंगा आपको वो निसार है मेरी उसी पहली श्रीलंका सैर पर जो मुझे करीब नौ साल तक बार बार याद आती रही क्योंकि नौ साल बाद मेरी तकदीर में फिर एक बार रेडियो सिलोन जाना लिखा था और मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसी बात रेडियो सिलोन की फिजा को भी पता लग गई हो और वो फिजा मेरे दोबारा कोलंबो आने के इंतजार में अपने दिल की बेताबी को सहला कर कह रही हो तो दिल बेताब तू दिल बेताब आने वाला है इधर आज कोई जाने जिगर आने वाला है इधर आज कोई जाने जिगर आज कोई जाने अरे भाई अगर जाने जिगर की जगह मेरा नाम ही ले लेती अमीन सायानी तो कितना अच्छा होता है बहनों भाइयों वैसे मेरा इंतजार तो आजकल कोई करता नहीं इसीलिए मैं अपने सपनों को गीतों से जोड़कर खुश हो जाता हूँ आप भी खुश रहिए बाय बाय काब ठहरे अरे अरे आप चौंकिए मत बहनों और भाइयों मेरा भी यही हाल हुआ जब गीत बारह की छाओ के वॉल्यूम सुनकर हजारों लोगों ने तारीफ के फूल बरसाए जिन्हें पाकर मैं खुश होकर हंसा मगर कुछ लोगों ने शिकायतें भी की जिन्हें जानकर मैं जरा सा रोया कि अरे ऐसा कैसे हुआ तो भाई एक शिकायत जो दो गीतमाला प्रेमी यानी बड़े पुराने गीतमाला प्रेमी एक तो सूरत के पीयूष मेहता और दूसरे मुंबई के हीरालाल दोसाणे और करीब तीस चालीस और लोगों ने भी की वो शिकायत ये थी कि अमीन भाई आपने आवारा जैसी 1951 की सुपरहिट म्यूजिकल फिल्म का एक भी गीत नहीं बजाया तो तभी मैंने ठान ली कि <laughs> चलो आज याद कर लेंगे आवारा को ये दिल जो जला बरसात हुई बरसात हुई कि भाई अब रोना कट और मुस्कुरा कर चलिए सन उन्नीस सौ सत्तावन में सबसे पहले कुछ टॉप हिट गीत